और ये कि अगर लोग राह हिदायत पर साबित कदम रहते तो हम उन्हें ज़रूर बहुत वाफिर पानी से पिलाते